अब यत्र को अभी हम अधिष्ठाने नहीं होते हैं इसे यत्र देशे यत्र काले यत्र सदवस्तु यत्र चिद वस्तु यत्र अनंत परीक्षा तो साफ है ना ये सकती है कि नहीं कि आप नीचे बैठे हैं और हम ऊपर बैठे हैं सकती है कि नहीं लेकिन क्यों सच्ची है क्योंकि आप अपने को शरीर मानकर कर बैठ रहे हैं आप नीचे वाला जो मंदिर है उससे ऊपर नहीं थे ऊपर बैठे हैं आप छत से नीचे है कि नहीं आप बाएं वाले के दागने हैं कि नहीं और दागने वाले के बाएं कहाँ है ऊपर है कि नीचे हैं दाहिने हैं कि बाहे हैं भीतर हैं कि बाहर हैं हैं कहा तो ये देश जो है ना ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर इसको बोलते हैं देश देश को जिस पोल में आप बैठे हुए हैं जो प्राच्य आदि व्यवहार आप किस दिशा में हैं बताइए आप पूरब में हैं कि पश्चिम में आप उत्तर में हैं कि दक्षिण में आप ऊपर हैं कि नीचे आप बाएं हैं कि दाहिने हैं कहाँ हैं तो ये सारी बात तब बनती है जब आप अपने को देह मान लेते हैं तब तो आप दाएं भी हैं बाएं भी हैं सब इसमें भी दाएं भी हैं बाएं भी ऊपर भी हैं नीचे भी हैं बाहर भी हैं भीतर भी हैं इसमें ये हालत है और यदि जिस देश का और छो जिस दिख तत्व का और छो उसमें आप सोचने लगे आप शरीर तुम्हारी से हमें इस सारा दृष्टि का ही दृष्टि का ही विलास है आप सोचिए कहाँ है आपके किस स्थान कौन सा स्थान है वो आप पूर्व में है पश्चिम में है उत्तर में दक्षिण में है बाहर है भीतर है कोनों में है दिशा में है विदिशा में है कहा है तो असल में दिग तत्व में पूर्व पश्चिम ही कल्पित है वैसे न्याय वैशेषिक में दिशा को तत्व माना जाता है दिग तत्व पूर्व मीमांसा में भी दिग तत्व लेकिन शांत और योग में दिग तत्व नहीं है जैन लोग देश को तत्व मानते हैं बहुत लोग नहीं मानते हैं अद्भुत है क्योंकि जैन लोगों का जो है ना मध्यम परिमाण आत्मा कभी चीटी बनने वाला कभी हाथी बनने वाला तो कभी लंबा होता है कभी चौड़ा होता है और विशुद्ध होने पर वो ऊपर उठता है और अलोक आकाश के सिरे पर जाता है तो उसके मत में देश मानना आवश्यक है लेकिन बौद्ध मत में देश जो है वो बिल्कुल मानस तत्व है वासनिक है वो वासनिक प्रमाद मूलक है अविद्या मूलक है उनके यहां भी अविद्या और बौद्ध भी अविद्या शब्द का ही प्रयोग करते हैं ले जाए लोग क्या ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं जो जो अविद्या शब्द का प्रयोग करता है स्थान के अविवेक शब्द का प्रयोग करता है आप तो अब देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो कल्पना है इसका कहीं ऊपर की ओर ओर छोर है उसके बाद उसके बाद उसके बाद कहीं नीचे की ओर ओर छेर छोर है कहीं दाहिने बाएं ओर छोर है तो अज्ञान हुआ दाहिने बाएं भी अज्ञान है ऊपर नीचे भी अज्ञान है विशाख दिख तत्व के अज्ञात विस्तार में कल्पित जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे है उसमें आपका शरीर बैठा है ये कल्पना कैसे हुई देहाभिमान जब अपने को देह मान के बैठे तब आपके ऊपर नीचे हो गया पूर्व पश्चिम हो गया बाहर भीतर हो गया यदि आप किसी भी उपाय से अपने देहाभिमान को नष्ट कर सकें तो ये नहीं हो व्याकरण शास्त्र में भी काल विवक्षा के लिए हम एक वर्ष को वर्तमान मान के बोले एक महीना को वर्तमान मान के बोले एक दिन को वर्तमान मान के बोले एक क्षण को वर्तमान मान के बोले हाँ हाँ व्याकरण शास्त्र में काल विवक्षा के अधीन है कभी कभी एक एक युग को वर्तमान मानकर और वर्तमान क्रियापद का प्रयोग होता है एक को कभी एक एक कल्प को मानकर अच्छा भागवत सिद्धांत में देश जो है ये भगवत संकल्प है भागवत है तो उसका अर्थ ही हुआ कि वेदांत शास्त्र में ये जीव संकल्प है अविद्या की शक्ति देश जो है पूर्व पश्चिम उत्तर तब यत्र देशे यत्र यत्याम देश यत्र दिक्तत्वे विश्वमिदम भाति कल्पितम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राज्य आभ्यंतर के भाव के हैं हेतु में आश्रय में ये जो कल्पित है विश्व आपको सुनाया होगा कभी बम्बई के एक सेठ के उन दिनों उनका मकान बड़ा भारी था अब तो बहुत बड़ी जमीन थी ना तो कारखान थे छोटे छोटे मकान बना दिए कई मकान बना दिए कि जमीन छिन्न जाए उन दिनों बड़ा भारी घेरा था तो एक धरती का नक्शा उनके घर में रखा उन्होंने सब हमको घुमा के दिखाया कैसा बगीचा है उसमें क्या क्या फूल पौधे हैं उसमें क्या क्या पक्षी हैं पशु भी रखे थे पशु भी थे पक्षी भी थे अब भी है थोड़े बहुत तो बड़े भारी सेठ महाराज दिखाया उन्होंने एक है पक्षी का नक्शा रखा था गोल गोल बिल्कुल उसको घुमा के दिखा ये अमेरिका है और ये यूरोप है और ये एशिया है, तो मैंने पूछा इसमें बारह वर्ष कहा क्योंकि हमको भूगोल इतिहास का तो कुछ पता है बिल्कुल एकदम शून्य हो तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें भारतवर्ष कहा है तो उन्होंने बताया ये ये श्रीलंका है और ये कोने पर ये भारतवर्ष है तो मैंने पूछा बम्बई कहाँ है तो उन्होंने एक बिंदी लगी हुई थी वो पश्चिम समुद्र के तट पर एक बिंदी सी लगी हुई थी बोले ये बम्बई है अब वो महाराज उसमें उनकी कोठी कहाँ है आपकी कोठी बोले महाराज विश्व के नक्शे में हमारी कोठी नहीं है लो धरती के नक्शे में ही उनकी कोठी नहीं अब जरा सूर्य लोक में चलो वहां से धरती एक बिंदु है वो बिंदु और जला जरा आकाश गंगा में चलो तो सूर्य एक और सचमुच आकाश की दृष्टि से देखो तो आकाश गंगा भी कुछ नहीं है ये सूर्य चंद्रमा ध्रुव नक्षत्र तारे धरती नाप दो बता दो एक इंच है संपूर्ण संपूर्ण दिख तत्व में एक इंच का सौवा हिस्सा है हजारवा हिस्सा है लाखवा हिस्सा है करोड़वा हिस्सा है, है? दिक तत्व के अज्ञात विस्तार में न धरती है न सूर्य है तुम्हारा शरीर तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुम्हारी संपदा ये इसलिए है कि तुमने अपने को ये साढ़े तीन हाथ का शरीर मैं और मेरा मान रखा है इसके सिवाय और इसका कोई आधार नहीं है बोला जत्र काले कर तो वही कालाधिष्ठान है उसका भी देशाधिष्ठान है देश का भी अर्थ देशाधिष्ठान है काल का भी अर्थ कालाधिष्ठान है वो अच्छा काल में देखो काल की कहीं आधी है काल का कहीं है काल की आदि न बाहर है है ना पहले कब काल शुरू हुआ तो उसके पहले काल था तो उसके पहले काल था जब काल की उत्पत्ति मानोगे तो उसकी उत्पत्ति काल में होती है और उत्पत्ति के पहले भी काल होता है अच्छा है और तो उसके बाद उसके बाद उसके बाद अंत के बाद भी काल होता है बाहर यदि कोई काल का आदि और अंत पकड़ना चाहे तो कहा जाएगा अज्ञान ना सिवाय अज्ञान के काल के आदि और अंत के लिए माने अज्ञान से काल तत्व के अज्ञान से ही हम काल में आदि और अंत की कल्पना करते हैं और जिसकी आदि अंत नहीं उसका मध्य कहाँ से हो तो हो गई लो तो चार बाग की काल को तत्व में मानते जैन काल को तत्व बौद्ध काल को व्यावहारिक तत्व को मानते हैं सांप्रतिक देश को भी सांप्रदायिक सांप्रदायिक अच्छा न्याय वैशेषिक में काल को तत्व माना हुआ है परंतु उसकी माप जो है वो बड़े विलक्षण ढंग से की हुई अच्छा सांख्य और योग में काल तत्व जो है ये महातत्व की एक तत्व महत्व कि एक पुरना है देश और एक किसी से निरोध जब होता है जब वृद्धियों का निरोध होता है तो वृत्तियों का निरोध हो जाने पर देश काल दोनों का भाग नहीं होता ये निरोध की वृत्ति के ही अंतर्गत है काल भी एक वृत्ति है देश भी एक वृत्ति है पूर्व मीमांसा में काल है काल को तत्व मानते हैं भागवत धर्म में भगवत चेष्टा को भगवत संकल्प को या भगवत शक्ति को तीनों ही तरह का वर्णन मान शैवों में काल को आत्मोल्लास अब देखो अद्वैत वेदा जब तुम अपने को काल में उत्पन्न और काल में नाशवान शरीर मानोगे तब तुम्हारी उत्पत्ति स्थिति और विनाश के आधार के रूप में काल की सिद्धि होगी और यदि तुम्हारा देहाभिमान छूट गया किसी कारण से अपनी अपरिच्छिन्नता के ज्ञान से परिच्छिन्नता का भ्रम मिट गया तो काल कहाँ तत्व है काल तत्व ही नहीं है तो किसी भी दृष्टि से हम 50 चीज ऐसी बता सकते हैं कि देश दृष्टि से काल दृष्टि से और कारण दृष्टि से कार्य दृष्टि से आश्रय दृष्टि से सदवस्तु दृष्टि से चित्त वस्तु दृष्टि से आनंद वस्तु दृष्टि से अपरिच्छिन्न वस्तु दृष्टि ये जो विश्व प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ये सारा का सारा कल्पिता ब्रह्मांड अधिष्ठान देव देहवान की नजर में क्या चीज है और एक अदेह की नजर में क्या चीज है इसका फर्क समझना पड़ेगा हमको एक बार क्या भ्रम हुआ आपको क्या सुना मोटर में चल रहे थे दिल्ली में अब वो महाराज सारा मोहल्ला एक एक मकान हरे हरे हरे हरे मैंने पूछा बाबा इतने दिन दिल्ली आते हो गया मैंने ये मोहल्ला तो कभी देखा ही नहीं तो मोटर मालिक ने बताया हंसते कि महाराज ये शिक्षा लगा है चश्मा है ना ये देह का परिच्छिन्नता का चश्मा अपनी दृष्टि पर आरोपित करके फिर हम सृष्टि को देखते हैं तो ये सृष्टि ऐसी मालूम पड़ती है ये चश्मे का दोष है ये तत्व का दोष नहीं है जब हम अपने को हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र इंद्रिय मन बुद्धि इनके इनसे अपने को लपेट के लपट करके इस खुरबीन से इस दूरबीन से इस चश्मे से जब दुनिया को देखते हैं तब ये दुनिया सच्ची बात है तब इसमें वेद भी वेद जो है वेद तो वेद को बहुत महत्व देते हैं वेद वेदांत से बढ़ के और कोई प्रमाण परंतु वेद प्रमाण भी है वेद के द्वारा ही वो अप्रमेय की प्रवेदा है बतावे आपको देश काल बतावे कहा है देश काल आप में है काल काल आप में देश की आदि आप में है काल की आदि आप में देश की आदि आप काल की आदि आप अंतर आप जितने नानाद को दिखाई पड़ते हैं नानाद को का आदि और अंत कहाँ है तो नहीं तो अंतकरण रहने पर मालूम पड़ते हैं अंतकरण सो जाए तो नहीं मालूम पड़ता है अंतकरण का सोना जागना भी आता है कहाँ आपको देश छुएगा कहाँ आपको काल छुएगा कहाँ आपको बस्ती छुएगी बस अंतर इतना ही कि बौद्धों ने संसार को संसार से जुड़ाकर इसको क्षणिक और मिथ्या सिद्ध किया और वेदांत अधिष्ठान के ज्ञान क्योंकि भ्रम भी किसी को होता ही है भ्रम भी किसी में होता ही है भ्रम निर्दिष्ठान निरधिष्ठान नहीं होगा तो उस अधिष्ठान के ज्ञान से जब मैं की परिच्छिन्नता कटेगी जो टुकड़ा टुकड़ा जो, जो, जो जिसके साथ हम अपने को मैं अपने को मिला देते हैं जब वेदांत प्रमाण से परिच्छिन्नता अपनी कट जाएगी तब आप देखेंगे कि ये तो विश्व सृष्टि सिर्फ कटने का अर्थ ये नहीं है कि भाने नहीं होगा अर्थापन नहीं है उसका अर्थ ज्यो की त्यों जैसी दिखाई पड़ती अज्ञ से विज्ञ से तो विश्व है परंतु अज्ञानी के लिए ये विश्व सत्य है और विज्ञानी के लिए आत्म वस्तु ही सत्य है और सब जो भाग रहा है वो आकाश की आकाश की नीलिमा के समान भाग रहा है ये इस उपाधि में बैठ के देखते हैं तो जब तक इसमें इसके द्वारा देखते रहेंगे तब तक ये सृष्टि भाटेगी और जब उपाधि के द्वारा नहीं देखेंगे तो सृष्टि नहीं भाटेगी और उपाधि हो जाएगी तब तो नहीं भाटेगी ये जितनी आदि है चिंताएं भय है शोक है वो उपाधि के कारण है उपाधि में है आदि व्याधि समाधि समाधि भी उपाधि नहीं है ये आदित आदि बोलना आदि बोलना व्याधि बोलना समाधि बोलना उपाधि बोलना इसमें जो आदि शब्द है ना वो आधान के अर्थ है आधार के अर्थ हाँ। आधानम आदि आ उपसर्ग जुड़ गया था धातु साधा पदाप और उपसर्गे भोक्ति स्थिति करते हुआ तब उससे आधि व्याधि समाधि उपाधि ये सब शब्द बने ये सब के सब आहित हैं आहित है माने आरोपित है उपाधि भी अपने स्वरूप में अधिष्ठान में आरोपित है और उपाधि में समाधि आरोपित है वो और उपाधि में ही आदि व्याधि भी आरोपित है और ये देश काल द्रव्य की जितना जितनी भिन्नता है ये सब किसम औपाधिक का उपाधि को मार दे का नहीं वो मारना भी उपाधि हाँ, हाँ। उपाधि को मारने से काम नहीं चलेगा वो वो तो अधिष्ठान स्वप्रकसर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश सर्वावभाषक जो अपना स्वरूप है उसके बोध से आदि भी बाधित व्याधि भी बाधित समाधि भी बाधित उपाधि भी बाधित बाधित माने प्रतीत होते हुए भी ये अपने स्वरूप में कुछ नहीं है ये निश्चय इस निश्चय से अज्ञान की इस निश्चय से अज्ञान की निवृत्ति यत्र विश्वमिदम भावी सत में आकार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय नहीं होता और दुर्वर्ग चित वस्तु में वृत्तियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं होता हो वृत्तियां विवर है और आनंद वस्तु में ये सुखाकार जो वृत्तियां हैं सुख और सुखा भाव दुख और दुखा भाव तो यदि अनेकता भाषित होती है तो वो सद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है ऐसे वैवर्तिक वृत्तियां भागती हैं तो वो चित वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है यदि पृथक पृथक सुख भागते हैं तो आनंद वस्तु का वैवर्तिक उल्लास है विवर्त है विवर्त न अन्य आकार हैं न अन्य वृत्तियां हैं न अन्य सुख हैं न अन्य सुख के वेद का काम पूरा होगा वेद वेदांत का काम पूरा हुआ यदा मनोगृहणाती ये भागवत का श्लोक है यदा अनुग्रहणाति भगवान आत्मभाविता प्रजहाति तदा लोके परिनिष्ठता लोक वेद दोनों से न्यारे अतन निरसने नवन गहना वेद स्वयं बोलते हैं कि महाराज हम तो उस तत्व के अतिरिक्त जो कुछ है उसका निराश करने के लिए हैं यदि तुम्हारे जेवर पर कोई मैल लग गई है तो पाउडर उसको दूर करने के लिए छुड़ाने के लिए है तुम्हारे शरीर पर मैल है तो साबुन उसको छुड़ाने के लिए है कंघी बाल बनाने बाल पैदा करने के लिए नहीं होती बाल में जो उलझन है उसको छुड़ाने के लिए होती है तो ये वेद ही जो है वो जब तक अज्ञान है तब तक कल्पित रूप से ही अनादि अनंत है अकल्पित अनादि अनंत तो अपना स्वरूप है और इसके सिवा जो कुछ है हे यज्ञेयास्य विज्ञान यज्ञ जानता तेसाम अन्यत्र विज्ञान उपचार त्रिशुस्मृता तो उपचार है ये देखो ये वेदांत की ये वेदांत का दृष्टिकोण अद्भुत है उसको आप कहा कहा ढूंढने जाते हैं कहानियों में किस्सों में चुटकुलों में जादूगरों में और मारी मूल बरस गया सोना चांदी हीरा तो इसमें कहीं सत्य है हाँ बहुत बरस गई बहुत बहुत बरस गई ये सब सिद्धि चमत्कार का इससे कोई मतलब नहीं एक उपन्यास पढ़ा था मैंने भगवती चरण बनवाता था पंचित्र लेखा उपन्यास पंचित्र लेखा तो महाराज उसमें एक योगी था वो लोगों से कहता था आओ हम सबको ईश्वर का दर्शन कराएंगे तो सभा जुड़ती एक बार सभा जुड़ी और सब लोग जैसे सिनेमा में बैठते हैं ऐसे हजारों लोग बैठे हैं और बीच में एक लाट रोशनी की लाट पैदा हुई प्रकाश की नीचे से के धरती से लेके आसमान छू रही थी वो प्रकाश की लाट उसने कहा कि ये ईश्वर है करो दर्शन वहां एक दिशा व्यक्ति उसने कहा जोगी ये तुम्हारा जादू है ये ईश्वर है ये तो तुम्हारा बनाया हुआ है बनाया हुआ ईश्वर और हमारी कल्पना है ये ईश्वर नहीं है कल्पना है वो नहीं तो आपके काम को बढ़ा दिया क्रोध को बढ़ा दिया क्रोध को बढ़ा दिया आपके अभिमान को बढ़ा दिया उसका नाम ईश्वर नहीं होता बनावटी चीज का ईश्वर नाम नहीं होता है जरा सी आंख बड़ा बताओ छोटी सी तो आंख ये पूरे पूरे रूप के विस्तार को नहीं देख सकती सब तरह के रूपों को नहीं देख सकती रूप की सूक्ष्मता को नहीं देख सकती तो कान आपका सारे शब्दों को ही नहीं सुन सकता अभी और जब लगावे तो दो लाख दो लाख से भी सूक्ष्म कम गुना जो शब्द होंगे उनको भी सुन सकता है और एक शब्द को दो लाख गुना बढ़ा के भी सुन सकता है ये नन्हा सा कान ये नाम ये जीव ये आपका नन्हा भुन्ना मन जो संसार के विषयों पर निकलता रहता है ये खिलौना बना सकता है ये जो परमेश्वर का असली रूप है प्रत्यक्ष चैतन्य आ गए देश काल वस्तु से अपरिचित सुजाति स्वगतेशु अद्वितीय यत्र विश्वविदम आदि कल्पिताम रज्जु पवार ये आप इन अपनी नंदी मुन्नी इंद्रियों से चाहते हैं कि इसके पेट में परमात्मा आ जाए अपने विक्षित चंचल या मन में चाहते हैं कि परमात्मा आ जाए आप अपने बुद्धि का वैभव दिखाते हैं परमेश्वर के सामने अरे बाबा आपसे अलग होके ईश्वर आवेगा तो दृश्य होगा जड़ होगा विनश्वर होगा दुखदायी होगा जब चला जाएगा तो दुख लेके जाएगा जब आवेगा तो सुख लेके आवेगा और जब जाएगा तब दुख देख जाएगा जब दृश्य होगा तो चेतन नहीं होगा जड़ जब आने जाने वाला होगा तो अविनाशी नहीं होगा विनाशी हाँ, हाँ। अपने से अलग होगा तो पूरा नहीं होगा अधूरा होगा तो तब आओ परमात्मा का दर्शन ये परमात्मा का साक्षात्कार कैसे प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में अपने स्वरूप रूप से परमात्मा का साक्षात्कार होता है और है ही वो वैसा और अविद्या की ये जो मौसमी लोग आपको बरगलाते हैं आपको पैसा देखते हैं कि इनके पास कैसा है कैसे वो सब ठग विद्या है वो ठग विद्या असल में विद्या यही है जया तदक्षरम अधिगम्यते जिससे परमात्मा का अधिगम प्राप्त तो होता है उसका नाम विद्या है चमत्कार का नाम जादू का नाम समानता का नाम विद्या ये ब्रह्म विद्या इसको बोलते हैं वेदांत विद्या ये अद्भुत बात है ना क्या अद्भुत बात है संसार में जितनी बुद्धियां मानी जाती हैं या जितनी विद्याएं मानी जाती हैं वो अपने प्रमेय का साक्षात्कार करा के बनी रहती है वो बाधित नहीं होती वेदांत विद्या ऐसी है कि जो अपने लक्ष्य का साक्षात करा करके स्वयं बाधित हो जाती है प्रसन्न है ना ऐसा कोई मजहब नहीं है बोला कोई मजहब दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी विद्या को ही बाधित कर सकता हो ये अद्भुत Thank you. क्योंकि आपको भय बोलना जो है ज्यादा नाम है कृष्णभूम से भय दिला दिया या शक्ति से भय हो दिया उसकी वजह आप भय को एक छोटे तरह जो उन्होंने पूरा किया आपका मन एकाग्र हो जाए उनको देर तक दूसरी कोई बात आपके मन मन में जो संसार का पूरा खतरा भरा हुआ है अंदर जरा अपना लंबा करके आप हुए राम को राम बड़े चिल्ला के राजा राम राम राम करके ऐसे बोलिए आपके मन में एकाग्रता आ जाए Gracias. इच्छा सुखम गच्छा सुख से बैठो सुख से चलो सुखम भूषो सुखम बदल सुख से खाओ सुख से बोलो चरण चरण चरण हमारे व्यवहार में आपका जो सुख है वो हो सुखम चरा आप जो कुछ करते हो बोलते हो उसमें अपने आप को जागृत करते हो व्यवहार जितना है वो अपने आप की अभिव्यक्ति है जब चेहरा आपका लाल हो जाता है तो मतलब ये है कि आपके भीतर आग लगती है तब ऐसा बोलते हो तो दूसरा जन्म है तो खुद जल रहे हो तो दूसरे को जलाते हैं करना हो जब अपने में कंगाली का तो नहीं है इसी चीज में नहीं है अरे थोड़ा पैसा देगा तो इज्जत देगा कोई तारीफ देगा तो अपने में जिस चीज कहीं मालूम पड़ने से वो हम दूसरे के मानते थोड़ा समय जाए प्रेम मालूम बीच में है प्रेम ट्रेनिंग जैसे सूर्य रोशनी दे रहा है जैसे चंद्रमा चांदनी दे रहा है जैसे वायु प्राण दे रहा है उसके आप लोगों को अपने व्यवहार से जीवन दान के लिए ज्ञान दान के लिए आनंद दान के लिए और शांति दान के लिए सुखम ये बात कई बार आपसे कह चुका कि समाधि लगाने का नाम वेदांत नहीं है उनमें जाने का नाम वेदांत नहीं है न चाहो तो गुरु का नाम लेना शांत तो अपने सच्चिदानंद आत्मनियोगी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति माने दायदार आत्म परमानंद स्वबोधस्व सुखम चरा खाओ पियो हंसो बोलो सबसे चलिए सबसे जुड़िए सबका लीजिए हाजी हाजी करते रहिए बैठिए अपने खा अपने स्वरूप में बैठे रहिए और आपकी भूमि में लिखा पानी में तो बना देते हैं आपके घर में दूध है वो आने वाले को बना देते हैं सुखम जरा वेदान व्यवहार की बात वो आंख बंद करके नहीं होता है वो बैकुंठ में जाके नहीं होता है समाधि में घुस के नहीं होता है वो सबके सलाह में बैठ के नहीं होता है वेदांत वो है जो सड़क पर चलता है जो आलोक में जाता है ये लोगों का जिन जो ख्याल है वेदांत कोई लौकिक व्यवहार से अलग ले जाने वाली चीज है ये पति पत्नी को अलग अलग कर देगा माँ बेटे को अलग अलग कर देगा ये धन और व्यक्ति को अलग अलग कर देगा तो ऐसा नहीं सुख सुखपूर्वक जो व्यवहार है हाँ, वो है तो वेदांत से बदलता है तो उसके लिए दो तो बात एक तो ये संसार क्या है और दूसरे तुम उतारो दो बार तो बताए